युग धर्म हो सब तेरे हृदय राम माया के तेरे कृत युग सब जोगी विज्ञानी हरि हरि ध्यान करें भव प्राणी साध विधि यज्ञ नर कर प्रभु ही समर्थ कर्म भव कर करी रघुपति पद पूजा नर भव करही उपायन पूजा युग केवल हरि गुण गावत नर पावही भवथा कलयुग जोगन जन जाना एक अभार राम गुण गान सब भरोस तज जो भज राम तीन समीप गाव गुण ग्राम सुई भवतर कछु संशय नाम प्रताप प्रगत कलिमाही कलि कर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा कल युग समझ बयान नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर विनम प्रयास जत पद धर्म के कलम एक प्रदान जैन कैन विधि दान करे कल्याण कल्याण श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय कृपा जी ने गर्व को तो कलयुग के जो लक्षण हैं वो सब बता दिए कि कलयुग में स्त्री पुरुष किस प्रकार के हो जाते हैं उसके बाद उसमें वे लोग धर्म का पालन नहीं करते स्वेच्छाचारी हो जाते हैं उसी में सारे दुर्गुण आ जाते हैं जब धर्म की ये दशा है कि व्यक्ति धर्म का ही पालन नहीं करता अधर्म में पड़ा हुआ है तो आगे की बात कहना कि वो फिर उपासना करेगा ज्ञान प्राप्त करेगा मुक्ति प्राप्त करेगा उससे तो कोई सरोकार ही नहीं जब नींव जो उसके घर में ही शक्ति नींव है वही जब पालन करने को तैयार उसे नहीं तो आगे अध्यात्म से उससे कोई मतलब नहीं रह जाता जो कुछ भी करता भी है वो सब दिखावा मात्र पाखंड मात्र के अंतर्गत रह जाता है अभी कहते हैं कि ये तो हुआ कलयुग का वर्णन अब कहते हैं एक गुण कलयुग में है वो है वो है कि साधना उसमें सरल है आध्यात्मिक साधना अन्य अन्य युगों में कठिन है लेकिन कलयुग में ये साधना आसान है बिना बहुत प्रयास किए हुए ही संसार सागर से पार किया जा सकता है ये बताए कि देखो कि चारों युगों के अलग अलग धर्म हैं उनमें अलग अलग उनको साधनाएं व्यक्ति को करनी पड़ती हैं एक कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा में खैर योग ये बताया प्रतियुग में त्रेता में द्वापर में इनमें योग है यज्ञ है पूजा है ये करनी होती है और कलयुग में जो गति हो सुकली हरे नाम के पावे लोग भगवान का भजन करें भगवान के गुण गाये बस इसी से जो ये है सबका निस्तार हो जाता है अब इसी को जोड़े का विस्तार करते हैं आगे नीचे कहते देखो सब सब युगों के क्या क्या किस प्रकार के धर्म सब लोगों के हैं और कलयुग में फिर <clears throat> उसके लिए क्या सुविधा है विस्तार कर देते हैं प्रतियुग सब योगी विज्ञानी कहते देखो प्रतियुग में मैंने सतयुग में सभी लोग योगी और विज्ञानी होते हैं <clears throat> योग के मानव व्यक्ति जो है वो <clears throat> अपने इंद्रियों को निग्रह करता हुआ अपने मन बुद्धि को चित्त को परमात्मा में लगावे इस प्रकार की साधना योग है मैंने समाज की अवस्था में पहुंच जाए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि होती हुई अंत में समाज की अवस्था में पहुंच गई ये योग की सिद्धि हो गई तो ये सतयुग में लोग इस प्रकार की साधना करते थे और उस समय समाधिस्थ रहते थे सब लोग और विज्ञानी भी थे विज्ञान और योग दोनों हो सकते हैं या दोनों के विकल्प भी हैं ये कोई तो योगी है तो कोई विज्ञानी है इस प्रकार के होते हैं दोनों की बात एक ही है विज्ञान के माने विचार पूर्वक परमात्मा का ज्ञान योग के माने आत्म के द्वारा परमात्मा तक पहुंचना और परमात्मा भाव में स्थित होना ये दोनों ही साधन सतयुग में सुलभ थे सभी लोग करते तो कहते हैं कि प्रभु सब योगी विज्ञान सभी लोगों समय सभी लोगों की दशा इस प्रकार की थी और करी करिहर ध्यान और करम प्राणी वे सब भगवान का ध्यान करते रहते थे योग के माने यहाँ ध्यान से बात करिए तो स्पष्ट कर दिया कहते हैं करिहर ध्यान करम प्राणी संसार से संसार सागर को पार करने का साधन उस समय ध्यान था सतयुगी लोगों के लिए कलयुग में ये सब साधन कठिन हो गए ये बताने के लिए कहते हैं कि सतयुग के साधन ये थे उस समय व्यक्तियों में बड़ी सामर्थ्य थी शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामर्थ्य थी योग्यता थी उनको ध्यान किया साधना कर भी सकते थे इसलिए वो सब करते थे इस प्रकार से और सागर प्रकार थे और फिर त्रेता जब मेरे कर जब त्रेता योग आया तब लोगों ने वो हो यज्ञ करना शुरू किया मन स्थूल साधना होने लगी थी यज्ञ कर ही और प्रभु समर्थ कर्म भय कर ही और देखो यहाँ यज्ञ का अर्थ क्या है हाँ? यज्ञ के माने प्रभु समर्थ कर्म भव कर ही भगवान को समर्पण भाव से कर्म करना ही यज्ञ है अब देखो बिल्कुल गीता वाला यज्ञ जो है वही यज्ञ है इस यज्ञ में यद्यपि प्रतियोग में कर्मयज्ञ भी हुआ मैंने वो यज्ञ जिसमें की आहुतियां दी जाती है यज्ञ जलाई जाती है वो भी यज्ञों का बहुत विस्तार हुआ वो भी करते रहे लेकिन मुख्य बात ये कि जो कर्म है वो व्यक्ति अपने अपने धर्म का आचरण करते हैं और उन कर्मों को भगवान को समर्पण भाव से करते हैं तो उनके समस्त कर्म यज्ञ है तो प्रभु समर्पित कर्म भव करही ये प्रेता का यज्ञ हुआ विविध यज्ञ नर करही विविध यज्ञ के मैंने ये भी बता दिया कि अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं अनेक प्रकार मैंने में ब्राह्मणों के अलग यज्ञ क्षत्रियों के अलग योग वैश्यों के अलग अलग सबके सबके अलग अलग यज्ञ प्रकार के हैं तो नाना प्रकार के यज्ञ सभी लोग सब प्रकार के यज्ञ करते हैं ये कर्मकांड के यज्ञ वैदिक कर्म है यज्ञ वो भी सब करते हैं और फिर उसके साथ साथ ये भी कि अपने समस्त कर्म भगवान के समर्पण भाव से करते हैं ये प्रेता का धर्म हुआ इस प्रकार यज्ञ कर्म करते रहना निष्काम कर्मयोग करते रहना प्रेता की बात अब कहते हैं जाकर कर रघुपति पद पूजा तो जब जाकर आया तो उस समय भगवान के चरणों की पूजा नर भव तरही उपाय में पूजा उस समय और कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया भगवान के चरणों की पूजा करते रहे अब यहाँ जो है उसका स्थूल रूप आ गया और भी अधिक मैंने जो पहले ध्यान इत्यादि में भगवान के निर्गुण रूप का ध्यान करते थे है परमात्मा भाव समाज में रहते थे अब द्वापर में आकर के सगुण उपासना में आ गए तो निर्गुण उपासना ज्ञान योग वो सब नहीं बना तब उनसे सगुण वो भगवान का ध्यान और उनके चरणों में प्रेम रखते हुए उनके पूजन करते रहे हम्म। ये पूजा जो है ये है त्रेता युग का ये द्वापर युग का की साधना हो गई अब कहते हैं इसके बाद कलयुग केवल हरिगुण का अब कलयुग में वो भी करने से कठिनाई दिखाई देने लगी तो बस भगवान केवल भगवान का नाम जपना ही कलयुग में रह गया कलयुग केवल हरिगुण गाहा गावत नर पावही भव था ये सब ये है उसी से संसार सागर के थाप आ जाते हैं मैंने वो डूबते नहीं थे देखो शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर है एक तो वो थे कि करे हरे ध्यान तरंग भव प्राणी वो तो संसार सागर पर सारे हो जाते हैं कलयुग में क्या करते हैं संसार का अगर विस्तार में हो तो कम से कम खा मिलेंगे भावत नर पावनी भावत कह रहे कितना पानी है कि कमर तक पानी है हम्म? बस पैर लग गए जमीन में और कमर तक पानी है मैंने संसार सागर से बिल्कुल पार नहीं हुए है उसी में लेकिन कम से कम डूब नहीं रहे तो उसमें उसके कारण डूबने में जैसी जागरूकता होने लगती है परेशानियां होने लगती हैं वो सब नहीं हो रही है ये स्थिति कलयुग में आ गई कहते तो कलयुग योग न में जो ज्ञाना कहते हैं कलयुग में ये सब साधनाएं जो पहले योग और विज्ञान बताए वो अथवा त्रेता के जो यज्ञ आदि हैं वो ये सब के सब जो ये है कलयुग में नहीं होते जो तीनों के सतयुग के त्रेता के द्वापर के जो साधनाएं बताई वो कलयुग में करना मुश्किल हो जाती है एक अठारह राम गुण गाना बस अब जब ये सब साधनाएं नहीं कर पाते तो क्या करें एक आधार मैंने सहारा बस भगवान के नाम गुणगान का ही सहारा है अपने जीव चलाए रहो भगवान का नाम ले रहो अपने मन में परमात्मा का स्मरण किए रहो इसी से जो है ये है इसी से उद्धार होने वाला इसी में लगे रहे लेकिन इसमें कौन बड़ा भारी काम है लेकिन कलयुग में पाप जब घेरते हैं तो ये भी नहीं होता कौन जीव से भगवान का नाम जाओ तो जीव ही नहीं दुनिया भर की और बातें कर सकते हैं और सब नाम ले सकते हैं लेकिन कहो कि भगवान का नाम भूलो जरा कभी भूल कीर्तन करते हैं तो कीर्तन में भगवान का नाम बोले तो कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग बोलते ही नहीं अरे नहीं बोलते अरे भगवान का नाम लेना तो बड़ा पुण्य का कार्य है बड़ी उत्तम साधना है और उसे निकालो बोलो लेकिन जवान घूमती नहीं तो क्या करें मजबूरी क्यों नहीं वो घूमती जवान घूमते अभी ये सब साधना तब होती है जब पाप घटे कुछ पाप की प्रबलता होती है तो ये भी नहीं हो पाता न नाम जप हो पावे न भगवान की कथा सुनना कहना हो पावे जो सरल जन साधना है वो भी नहीं हो पाती धावत नर पावन था कलिजुग जोग जन ज्ञाना एक अठार राम गुण गाना सब भरोस कल जो भज राम ही अगर भगवान राम का कोई भजन करे और सब भरोसे छोड़ दे मैंने भगवान पर भरोसा रखे भगवान का भजन और भगवान के ऊपर भरोसा भी रखे तो कहते हैं सब भरोसा कल जो भज राम ही अप्रेम समेत गाओ गुणग्राम ही और प्रेम के साथ जो हो गुणगान करे उन्हीं का भगवान का ही गुणों का भी गावे अब देखो ये स्पष्ट कर देते हैं नाम लेने का तात्पर्य क्या हरिनाम के पावन लोग जो गोरे में बोला था हरिनाम से तात्पर्य क्या हुआ वो अब यहाँ विस्तार कर देते हैं उसको हर नाम से इतना तात्पर्य है कि भगवान का नाम देते हम्म, भजन जो भगरामी भजन और फिर और प्रेम समेत का गुण ग्रामी और भगवान के गुण राम भी प्रेम के साथ गाय भगवान के गुण गाना मैंने भगवान बड़े ही उदार हैं दयालु हैं सहनशील हैं भक्तों की प्रकृता करने वाले हैं संभाव रखने वाले हैं ये भगवान के जो जो गुणों का वर्णन आता रहता है वो बोले उनको इसी तरह से भगवान को कैसे अना सकती है निष्प्रय कैसे हैं भगवान को राज्य प्राप्त हुआ लेकिन राज्य के बाद दूसरे दिन बंद निकाल दिया गया तो कोई परवाह नहीं की राज्य में कोई आसक्ति नहीं रखी तो देखो भगवान कैसे अना सकते हैं तो भगवान की अनाशक्ति का वर्णन करना और उनकी कथा सुना कैसे भगवान ने राज्य का त्याग कैसे कर लिया और अनाशक्त रह करके भी भगवान सबसे प्रेम रखते हैं देखो किसी से उनकी आसक्ति किसी से नहीं न महाराज दशरथ से न कौशल्या से न भरत से न राम लक्ष्मण से किसी से आसक्ति किसी से नहीं न राज्य से न किसी से लेकिन प्रेम सबके साथ में अनाशक्त भाव का प्रेम देखो कैसा उनका भरत बहुत प्रिय भरत है और भरत अगर चाहें भी कि भगवान राम लौट जाए अयोध्या चले अयोध्या के सिंहासन में बैठे तो नहीं बैठेंगे फिर क्या भगवान भरत तो भगवान भक्त के प्रति जैसी है जैसी होनी चाहिए संतुलित होना चाहिए जहाँ पर जो विचार बुद्धि नष्ट हो गए तो वो प्रेम नहीं रहेगा आसक्ति हो गई तो भगवान को आसक्ति कहीं नहीं है प्रेम सर्वत्र है अब ऐसे गुण जो है वो भगवान को सुनाओ और फिर उनको गुणों को सुनाओ और कथा सुनाओ दिखाओ कि देखो ऐसा ऐसा भगवान ने किया ऐसा ऐसा भगवान ने किया अब इसका फिर इससे कैसे संसार सागर का व्यक्ति पार हो जाएगा तो ये सब कथा भगवान को सुनाने से भगवान के गुण गाने से नियम ये है कि जब इनका विचार करोगे तो ये अपने मन में ये सब गुण आएंगे चाहे उनको गुणों को लाने की कोशिश करो न करो लेकिन भगवान के गुणों का वर्णन करोगे तो वो गुण अपने अंदर जरूर आएंगे और अगर दूसरों की निंदा करोगे भगवान के गुणों का वर्णन करोगे संसार के व्यक्तियों की निंदा करेंगे तो क्या होगा उन व्यक्तियों के दुर्गुण अपने अंदर आ जाएंगे इसलिए वे सावधान करते हैं कि संसार में कहीं किसी की निंदा न देशों का वर्णन न करो तो ये न कहो तो अरे तुम्हें बड़ा क्षमता भाव नहीं है तुम्हें देश भाव है तुम्हें झगड़ा है तुम्हें अच्छी बुद्धि नहीं है तुम कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं करता वो सही नहीं है वो गलत है तो ये सब बातें जो है ये उस प्रकार के संसार के प्रति करोगे तो अपनी बुद्धि खराब होगी दूसरा तो जैसा है तैसा है ही है लेकिन अपनी बुद्धि भी खराब होगी ये नियम है इसलिए अपनी बुद्धि को बचाए रखने के लिए जो जैसे हैं तैसे हैं उनकी निंदा जहां तक हो तो उनको सहायता करो तो उनके दुर्गुण दूर हो जाए ये हो कि भाई इस प्रकार को करना ठीक नहीं है ये उपाय प्रकार का सीधे कहो घुमा के कहो अन्य लोगों को उदाहरण दे करके कहो ऐसे ही है किसी को अगर किसी व्यक्ति में कोई दुर्गुण है तो उसको दुर्गुण को दूर करने के लिए भगवान की कथा सुनाओ हाँ कि देखो भगवान में ऐसा ऐसा गुण है ऐसा ऐसा गुण है तो जब वो सुनेगा व्यक्ति तो उसके दुर्गुण उसके दूर होंगे उसके हृदय में गुण आएंगे बस इसी का नाम सत्संग है यही आध्यात्मिक साधना है कलयुग में सीता का तरीका इसमें न लकड़ी इकट्ठी करो न आग जलाओ न आरतिया करो न यज्ञ करो न तब करो दुनिया भर का कुछ काम नहीं सीधे सीधे से बैठो भगवान की लीलाएं सुनाओ लोगों को तो उनका भी कल्याण हो और अपना भी कल्याण हो इसलिए न सुनाओ तो दूसरे लोग सुन करके तुम उनको अपनी विद्वत्ता दिखा रहे हो अपना ज्ञान सुना रहे हो इसलिए नहीं इसलिए सुनाओ जिससे कि अपनी भी साधना बने दूसरे की भी साधना बने अपना भी चित्र शुद्ध हो दूसरे का भी चित्र शुद्ध हो इसलिए करते रहो कहने इस कथा में कहने में और भगवान का नाम जपने में कोई अधिकारी भेद की बात नहीं अगर कोई कह देखो ये साथ तो राम राम जपते हैं इनको राम राम जपने का अधिकार कहाँ है ये सब कुछ नहीं ये मूर्खता की बात है तो सभी जाति के सभी स्त्री पुरुषों को गांव बन के शहर के सभी लोगों को कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो भगवान का नाम सब ले सकता है और भगवान के वो सब गा सकता उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं अरे साहब ये तो भगवान की कथा सुना दी और ये कहते हैं भगवान की कथा सुना दी ये तो निज जात के आदमी इनको तो क्या अधिकार भगवान की कथा सुना था भगवान की कथा सुनाने के सब अधिकार है सभी जाति के लोग सभी स्त्री पुरुष सब लोगों को इस प्रकार का अधिकार है भगवान की कथा इसलिए यहां देखो कोई प्रतिबंध भी नहीं कहीं कोई इस प्रकार का नहीं है ये बात नहीं करते जो साधन बता रहे हैं कलयुग का ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं बोलते ये सबके लिए है वैसे भी अपने शास्त्र के अनुसार जहां तक धर्म है वहां तक तो अनेक मर्यादाएं हैं कि किसका धर्म क्या है किसका धर्म क्या है क्या कर्म करे क्या कर्म न करे वहां तो बहुत विवेचन है लेकिन जब उसके बाद उसमें परमात्मा क्षेत्र में पहुंचते हैं उपासना में भक्ति में ज्ञान में उनमें किसी को तो शारीरिक जातीय या स्त्री का बालक वृद्धि का कोई प्रतिबंध नहीं है वो सबके लिए ज्ञान सबके लिए भक्ति सबके लिए सबके लिए खुली हुई कोई भी चाहे उसको प्राप्त करे उसमें किसी को रोक तो किसी को नहीं उसमें जो वो हो सब वहां पर पहुंच करके सब स्वतंत्र हो जाते हैं इसलिए कहीं कहीं कंफ्यूजन पैदा होता रहता है कि ये करे ये न करे वो न करे न करे अब जैसे वैदिक पाठ पे चला कि वेदों का वैदिक पाठ कौन कर सकता है तो कहा वैदिक पाठ स्त्रियां नहीं कर सकती शुक्र नहीं कर सकते तो वेद पाठ नहीं कर सकते वो कर्मकांड के तक आता है कर्मकांड के अंतर्गत वेद पाठ नहीं कर सकते लेकिन वैदिक ज्ञान जो वो व्यक्ति जो वो प्राप्त कर सकता है परमात्मा कहाँ है कैसा है लेकिन यही तो लिखा परमात्मा सर्वत जाते सच्चिदानंद स्वरूप है तो कहा कि कोई भाई स्त्री है कोई शुद्र है तो कानून नहीं लगा लो नशन है इतने इस प्रकार का इसका ज्ञान तो सभी लोगों को हो सकता है कि परमात्मा ऐसा है ऐसा है और होना चाहिए वहां तो मना नहीं करते यही कहते होना चाहिए वहां वैदिक ज्ञान सबको होना चाहिए सब प्राप्त कर सकते हैं इस ज्ञान इसलिए हर जगह जो है विवेक की जरूरत है कि तो शास्त्रों का मंतव्य क्या है कहाँ किस प्रकार का नियम लग रहा है कहाँ किस प्रकार की छूट है उसको ठीक ठीक जानना चाहिए इसलिए देखो यहाँ पर जो ये है तो दिया कि भगवान का भजन करने के लिए भगवान का नाम जपने के लिए कीर्तन करने के लिए भगवान के गुण गाना गाते जाने के लिए ये बड़ा सरल सी बात है कलयुग में हर कोई कर सकता है कलयुग में अधिकांश जबकि तो अपवित्र रहते हैं अपवित्र अशुद्ध बहुत लोग कहते ऐसे लोग क्या करें भगवान का नाम देख न लो तो गिले ऐसे गिले अपवित्र बने रहे लेकिन भगवान का नाम है फिर तो आगे पीछे जो शरण में आ जाए शुद्धता की बात तब शुद्ध हो लेंगे लेकिन अपवित्रता के कारण से कोई प्रतिबंध नहीं है वो भी बदल ये इस प्रकार का जो है ये नियम बता दिए कि जो सब भरोस कभी जो भज राम प्रेम समेत गाओ गुण राम और भगवान के प्रेम के साथ भगवान का गुण राम हम्म, तो सोई सब सो भव पर कछ संशय ही कहते इसमें बात कोई संशय नहीं वो संसार सागर से पार हो जाएगा नाम प्रताप प्रगट कल ही कहते कलयुग में भगवान नाम की महिमा कलयुग में प्रगट है प्रगट है कि मैंने अब यही भगवान नाम कोई सतयुग में जपे तो उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा क्योंकि वहां डिमांड नहीं होगी कुछ तो और उसकी साधना करो तब तुम्हें तो उसका फल प्राप्त होगा लेकिन कलयुग में इस प्रकार की डिमांड नहीं है कलयुग में तो इतने मात्र है संसार पागल से पार हो जाएगा अब देखो जैसे <clears throat> शहर है तो वहां एक से एक पढ़े लिखे व्यक्ति मिल जाएंगे PhD D Litt M science doctor तमाम एजुकेटेड लोग हजारों लाखों की तादाद मिल जाएंगे तो वहां पर जब कोई व्यक्ति को विद्वानों में गिनती की जाएगी तो किसकी की जाएगी है? जो इस प्रकार से उच्च शिक्षा प्राप्त बहुत होंगी यूनिवर्सिटी से भी भी M A P H D D वगैरह किसी विशेषज्ञ उसमें होंगे जब पारंगत होंगे उसमें सब लोग विद्वान माने जाएंगे लेकिन ये गांव में जहां सब अशिक्षित हैं और एक व्यक्ति ने आठवीं दर्जे तक पढ़ लिया तो उस गाय में सबसे बड़ा विद्वान कौन है बस ये आठवां का सबसे बड़ा विद्वान और जो शहर में बड़े बड़े विद्वानों को प्रतिष्ठा प्राप्त होगी वो आठवीं दर्जा पास के गांव में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाएगी तो कलियुग में जिस समय के अधिकांश लोग जो वो कलमल ग्रसित हैं उसके बीच में अगर कोई भगवान का नाम भी ले लेता है थोड़ा धर्म के रास्ते पर चल लेता है थोड़ा भगवान की गाथा गा देता है तो समझो कि बस उससे महान कौन है दुनिया में बहुत महान हो गया इसके समान श्रेष्ठ कौन सबके सब उसको कहेंगे अरे साहब ये तो बड़ा महात्मा है अरे साहब ये तो बड़ा भगवान का भक्त है ये तो बड़ा भरी ज्ञानी है ज्ञान धर्म क्या उसमें बेचारा साधना न कर रहा है किसी प्रकार से अपने मानसिक विकारों से छूटना काटने के लिए कोशिश कर रहा है दूसरे का अरे साहब वो तो बड़ा धर्मात्मा है वो तो बड़ा ज्ञानी है वो तो बड़ा भगवान की जो है कथा जानता है ये सब जानता है ऐसे करके लोग बोले और हम लोगों को तुलना से उसको अपने आप को देख करके संतोष नहीं लगेगा तो देखो हम बहुत सकते हैं उस हाँ? प्रकार का संतोष और सुख की प्राप्त जो व्यक्ति को है वो इतनी मात्र से होने लगेगी सही भव तर्क संशय नहीं राम प्रताप प्रगट कल नहीं कभी कर एक पुनीत प्रतापा कहते कलयुग का जो है एक अपनी प्रताप है ये प्रताप है उसकी एक महिमा कलयुग की पवित्र महिमा वैसे तो कलयुग की पुनीत बिना पुनीत महिमा नरक है जिनका जो बहुत विस्तार धारण कर दिया लेकिन पुनीत महिमा एक अच्छा गुण उसमें यह है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पाता इसमें मानस पुण्य तो होते हैं लेकिन मानस पाप नहीं होता ये भी बचता अगर मानस पाप होने लगा तो कलयुग में उद्धार ही है बड़े छुटकारे मनुष्य मानव प्राप्त करते ही रहता है अपने अपने मन में सोचता रहता है अरे गाड़ी हमारा दुश्मन क्यों नहीं मरता ये भगवान हमारा दुश्मन क्यों नहीं इसको जो है ऐसे प्रकार की हत्याएं मानसिक हत्याएं जीवन कितनी करता रहता है लेकिन अगर इन हत्याओं का हत्या लेने लगे तो, तो बात उसको उद्धारी न व्यक्ति को सब व्यक्ति के मानसिक गुण जरूर है दुर्गुण जरूर है मानसिकता लेकिन उनसे छुटकारा हो जाता है भगवान का प्रेम करने से हो जाए अन्य लोगों में ऐसा है कि अगर व्यक्ति मानस पुण्य करता है तो पुण्य का भी फल मिलता है मानस पाप करता है तो पाप का भी फल मिलता है लेकिन कलयुग में मानस पुण्य का फल तो बहुत सही में मिलता है तो इसी में भी मिलता है लेकिन बस एक एक्सेप्शन हो गया कलयुग में आकर के कि मानस पाप का फल व्यक्ति को नहीं भोगना पड़ेगा उसे छूट देती है जिससे कि कुछ न कुछ कलयुग में भी व्यक्ति को उद्धार का रास्ता बना रहे कुछ उसे अवसर प्राप्त रहे इसलिए उसने छूट कलयुग में मानस पूर्ण हो ही नहीं पाता कलयुग समुद्र आने नहीं जय मर कर विश्वास अब कहते अगर तुलना करके देखो तो एक विचार तो ये भी हो सकता है कि सब ये एक किनारे लेकिन कलयुग सबसे श्रेष्ठ कलयुग युग आए नहीं तो अब उसका उस कलियों के समान और कोई युग नहीं है इसके मैंने क्या हुआ कि कलियों के समान खास कोई युग नहीं है जो कर्म जो करने लगे साफ ऐसा नहीं लगेगा ये कहेंगे कि कलियुग जैसा अच्छा युग दूसरा युग नहीं है अगर कोई विश्वास करे हम्म? किस बात में विश्वास करे भगवान के नाम में विश्वास करे परमात्मा में विश्वास करे और फिर कलियुग के समान कोई युग नहीं लेकिन परमात्मा विश्वास ही नहीं होता भगवान के नाम में भी विश्वास नहीं होता तो प्रसंग कि उसको उसने कबीर ने उसकी बुद्धि को बिल्कुल अपहित कर लिया है नष्ट कर लिया है तो गरीब राम गुण गण विनय और भव कर्मर गुणी प्रयास भगवान की गुण गाथा जाते हुए जबकि बिना परिश्रम किए संसार सागर से पार हो सकता है प्रत्येक लोग सामने अन्य प्रकार की साधनाएं करते हैं और वो साधनाएं उनकी ज्यादा दिन चलती नहीं है कोई ध्यान साधना विरोध करे तो दो दिन करेगा और उसके बाद खत्म नहीं मतलब मालूम कर दे और फिर थोड़ी थोड़ी ऐसी करके होगी गहराई तक पहुंच ही नहीं पाए ऐसे निष्काम कर्म करने की भी कोशिश करे तो उसमें भी सकामता आ जाएगी पहले बहुत सोचे कि हम निष्काम कर्म करें निष्काम कर्म करें और उसके बाद में कामना होने लगी कि कम से कम और कुछ फायदा न हो काम करने से तो कम से कम लोग तारीफा करें ज्यादा दिन चलेगी पाएगी और साधना लोग में ये सब नहीं चल पाती क्योंकि अपने भीतर से चित्र में कभी कहीं में भरा हुआ है भीतर से वो पैसा डालता रहता दवा डाल डाल करके व्यक्ति को उच्च प्रकार की साधनाएं से उसको नीचे लाता रहता है धक्का मारता रहता है उसको अधोगत की तरफ घसीटता रहता है इसलिए कहते हैं कि और साधनाएं तो कलयुग में होती नहीं कलयुग में बस इतनी है भगवान का नाम जब वगैरह हो जाए लेकिन ये भी नहीं कहाँ कलयुग में कौन भगवान का नाम जब करे कौन क्या करे कहाँ विश्वास होता है भगवान नाम का जपना तो बहुत बात की बात पहले ये तो स्वीकार करे कि परमात्मा है हाँ? ये परमात्मा है नहीं तो घटना करता है तो विश्वास ही पहले नहीं होता करना प्रभु की समस्या तो ये है विश्वास हो जाएगा तो परमात्मा का परिणाम जितना भी आसान हो जाएगा तो तो कहें भाई परमात्मा तो है ही है उस नाम जब उसका उसके गुण गाथा गाओ वो तो होनी लगी अब कहते हैं कि देखो प्रगट कार्य अपने धर्म के कलम हुए के प्रधान कहते हैं अब वो धर्म की बात कह रहे हैं ये तो दो बातें हैं एक तो परमार्थ की बात है एक धर्म की बात है अभी जो जो वर्णन कर रहा था परमार्थ का कर रहा था परमार्थ की दृष्टि से चारों लोगों के चार साधनाएं बताई परमार्थ की साधना अब कहते हैं कि चारों लोगों के चार धर्म भी जैसे ये ये धर्म जो है लोग व्यापक प्रकार के अन्य ये धर्म अलग अलग किसी प्रकार से ये भी जो है करना हुए ये भी इसकी भी साधना है सब बात जाकर